ज़रा आवाज़ खोल दो भाई त्रिमंत्र बोलेगा बधु बोलेगा त्रिमंत्र ने बधु गया हेलो हेलो नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सदगुरु सूक्ष्मतमा परं गुरु सूक्ष्मतमासिद्ध गुरु सत्यं निश्चय वन्दः त्रिस कोटि त्रिस कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याण यज्ञ में यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती बुल को माफी दो सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि आनंद से बढ़ते जन्म ममता की रेशम डोरी से लपटता है मन मेरा के लपटता है ममता की रेशम डोर कह के लपटता है मन मेरा कह के लपटता है कोई अंग शरीर का काटे दुख होता है तो जैसा दुख होता है आसक्ति जम कर बढ़ती है रचती है रचती आसक्ति जम कर बढ़ती है आशक्ति जम कर बढ़ती है संग बुद्धि रचती है रचती है उस ध्येय की पूर्ति करने को सीनरी चलती है दिन रात मशीनरी चलती है उस ध्येय की पूर्ति कर मसीनरी चलती है दिन रात मशीनरी चलती है ऐसे भौतिक चीज हम ग्रह क्या है दिखता है परिग्रह क्या है दिखता है कोई अंग शरीर का काटे कैसा दुख होता है तो जैसा दुख होता है तन माया में लिपटा हूँ प्रज्ञाशक्ति में डूबा है शक्ति में डूबा है तन माया में लिपटा हूँ आसक्ति में डूबा है में डूबा है शुद्ध ज्ञान से जग मग प्रज्ञा से शुद्ध ज्ञान से जग मग प्रज्ञा से स्थूलसूक्ष्म परिग्रह छुटता है स्थूलसूक्ष्म परिग्रह छुटता है कोई अंग शरीर का काटे दुख होता है तो जैसा दुख होता है शुद्ध ज्ञान से जगमग प्रज्ञा से स्थूल सूक्ष्म परिग्रह छूटता है सूक्ष्म परिग्रह छूटता है ममता की रेशम दो के लपटता है मन मेरा कह के लपटता है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद આ પદ પ્રભાત ફેરીમાં બહુ ગવાતું जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है जुनून की जरूर नहीं सूरज की जरूर है બધા મહાત્માએ નાસ્તો કર્યો છે બરા બધા બધાએ કર્યો બધા મહાત્માઓ નાસ્તો કરીને આવ્યા છે ને जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है जुनून की जरूर नहीं सूरज की जरूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है जुनून की जरूर नहीं सूरज की जरूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोल अनाचारी दुराचारी गद्दारी सैतानी है अनाचारी दुराचारी गद्दारी सैतानी है मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी है वानी है मातृभूमि भूमि शर्माए वो राक्षसी है वानी है अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूर है अनु कम चाहती है क्रांति की जरूर है भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है जुगनु की जरूर नहीं सूरज की जरूर है जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है अनाचारी दूराचारी गद्दारी सैतानी है अना दुराचारी दुराचारी गद्दारी सैतानी है मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी है वानी है मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी है वानी है अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूर है अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूर है भारतीय संस्कृति इंसान पे मगरूर है भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं चलते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं चल सकते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है या अमीर को सहूलियत की जरूर है भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्म नूर है भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्म नूर है हमारा ये आंदोलन में आवाज है अहिंसक हमारे आंदोलन में आवाज है अहिंसक भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकलाब स्वधर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकलाब स्वधर्म उधारी का ख्वाब नहीं नकद ही मंजूर है उधारी का ख्वाब नहीं नकद ही मंजूर है शास्त्रों की जरूर नहीं दादाजी कबूल है शास्त्र की जरूर नहीं दादाजी कबूल है हमारा ये आंदोलन में आवाज है अहिंसक हमारे है आंदोलन में आवाज अहिंसक भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकलाब स्वधर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकलाब स्वधर्म उधारी का ख्वाब नहीं नकद ही मंजूर है उधार यारी का ख्वाब नहीं नकद ही मंजूर है शास्त्रों की जरूर नहीं दादाजी कबूल है शास्त्रों की जरूर नहीं दादाजी कबूल है दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही जय सच सच्चिदानंद मोक्ष मार्ग सूर है जय सचिदानंद मोक्ष मार्गी सूर है एब्सोलूट परमात्मा दादा मूर्त मूर्त है एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मूर्ता मूर्त है दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही सबको मोक्ष सुख मिले वही शुद्ध नारा सही जय सच्चिदानंद मोक्ष मार्गी सूर है जय सचिदानंद मोक्ष मार्गी सूर एब्सोलूट परमात्मा दादा मूर्त मूर्त है एब्सोलूट परमात्मा दादा मूर्ता मोक्ष जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर है जुगनू की जरूर नहीं सूरज की जरूर जरूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है बोलो महात्मा वंशराज जी बोलिए कुछ हाँ आपका शुभ नाम आपका शुभ नाम हिम्मत सिंह यहाँ पहली बार आए क्या आते पहली बार आए दादा भगवान का नाम सुना है दादा भगवान का नाम आपने सुना है सुना है तो ये दादा भगवान जो है दिखने में तो हमारे जैसे संसार ही दिखते हैं उनकी आप फोटो देखें तो कोई अंकल है ऐसा लगेगा लेकिन हम जिसको दादा भगवान कहते हैं दादा भगवान के नाम से जो जाने जाते हैं वो दादा भगवान भीतर में जो आत्मस्वरूप है उनको दादा भगवान कहते हैं और वही स्वरूप सब जीव के अंदर है सब जीव के अंदर जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व को ही दादा भगवान कहते हैं और दादा भगवान वही तत्व रूप से कृष्ण भगवान है रामचंद्र भगवान है खुदा है महावीर है तो उनमें और हमारे अंदर फर्क क्या है तो क्या उनके भीतर जो आत्मा है वो अज्ञान रूपी कर्म से मुक्त हुई है अज्ञान रूपी कर्म से मुक्त हुई है प्रकट हो गई है इसलिए वो प्रकट स्वरूप को हम दादा भगवान कहते हैं वही स्वरूप हमारे भीतर है लेकिन प्रकट होने का बाकी है क्या है प्रकट होने का बाकी है तो जैसे जैसे ये दादा भगवान का जो विज्ञान है वो अध्यात्म विज्ञान है और सिर्फ अकेला अध्यात्म विज्ञान नहीं है दादा भगवान ने व्यवहार के साथ साथ अध्यात्म विज्ञान दिया है बालक की हरेक धर्म में व्यवहार को बाधक माना है व्यवहार को रुकावट करने वाला माना है दादा भगवान ने तो वहां तक बताया संसार की कोई भी चीज आपको रुकावट कर सकती नहीं है आपको अध्यात्म में जाने के लिए रोकती नहीं है सिर्फ आपका जो अज्ञान है वो अज्ञान ही बाधक है तो जहां कहाँ से जहां से भी आपका अज्ञान जाता है अज्ञान निर्मूल होता है तो वो आपके लिए सही मार्ग है समझे हिम्मत से तो आपको कोई प्रश्न है कुछ जानने की इच्छा है तो बात कर सकते हैं महात्मा लोग भी किसी को कुछ बात करनी है कुछ समझना है तो बात कर सकते हैं हिम्मत सिंह जी जीवन का लक्ष्य क्या रखा है माइक होता जी हमने जीवन का लक्ष्य अंतिम लक्ष्य आपने क्या रखा है हम्म। बोलो बोलो परमात्मा को प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है मगर कैसे परमात्मा को प्राप्त करना है ये हर एक धर्म का हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है लेकिन हम परमात्मा को कैसे पहचानेंगे परमात्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे वो एक बात चाहिए परमात्मा क्या है वो आपको मालूम है बोलिए कुछ वो चालू है सब लोग आपकी आवाज़ सुन सके ऐसे आप कैसे पहचानेंगे परमात्मा को पहचानना है वो आपका ध्येय है लेकिन आप परमात्मा को कैसे पहचानेंगे खुद को पहचानना वही परमात्मा का पहचान है तो आप खुद कौन हैं जितेंद्र सिंह है कि कुछ और आप तो जितेंद्र सिंह है ना हिम्मत सिंह है ना आप तो तो आप हिम्मत सिंह है कि कुछ और है और अंदर में कुछ और हूं हाँ तो बाहर जो हिम्मत सिंह हैं उनको आप थोड़ा कुछ जानते हैं कि उनका अच्छाई क्या है उसकी वीकनेस क्या है वो कैसे है कैसे नहीं है हिम्मत सिंह को आप अच्छी तरह से जानते हैं बराबर ना तो अब परमात्मा को पहचानने के लिए हम खुद कौन हैं हिम्मत सिंह तो व्यवहार चलाने के लिए नाम दिया है पहचानने के लिए क्या है पहचानने के लिए नाम दिया है लेकिन हकीकत में कौन है दा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जय दा भगवान ना असीम जय जयकार हो आदा भगवान ना असीम जय जयकार हो સત્સંગ ચાલુ રાખો હા દાદા જય સચ્ચિદાનંદ આ મહાત્માઓ તમે બધા આવ્યા હું આજે દરબાર દરબાર મોટો ભરી ગયો અમારા રસિકભાઈ ક્યાં ગયા હા બરાબર આ સ્થાનકવાસી આટલું મોટું બની ગયું જુઓ અને નવી રૂબો બની છે બધું જ વ્યવસ્થા છે અહીંયા આગળ હમ આપણે અહીંયા જ્ઞાન જ્ઞાનવિધિથી કેટલા વર્ષો થયા હશે થોડાક બે નહીં કાંતિભાઈ અહીંયા બીજી કરી હતી ને આપણે ત્યારે જૂનું હતું હા નાનો હોલ હતો એટલે સમય સમયે હવે આ ભારત વર્ષમાં આ ધર્મના અનુશાસનનો સમય આવ્યો છે હવે આમ બહાર બધો કળિયુગ દેખાતો હોય પરંતુ જેમને પોતાની પોતાના સ્વરૂપની આરાધના છે બધાઓ માટે આજે સમય આવ્યો છે આજની ટેકનોલોજી પણ આપણને એટલો જ સહકાર આપે છે અને એનો એટલો સુંદર ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ સદુપયોગ જે ટેકનોલોજી સારા વિશ્વને માટે પ્રશ્ન થઈ ગઈ બેડી છે આજે બધી રીતે બહુ મોટો પ્રશ્ન થઈ પડી છે રાજકર્તાઓ માટે તેમજ પ્રજા માટે બધા માટે પુરોહિતજી તો આપ તો આપણે બધા ગુજરાતીઓ છીએ ये सब गुजराती है तो मेरे हिम्मत सिंह जी आए हैं और यहाँ के कौन कौन है अपने हिंदी भाषी यहाँ हिंदी भाषी हाँ एक है आप है अपना टिके टिके तो गुजराती चलेगी हिम्मत सिंह जी हाँ आप तो कितनी जोधपुर में सर्विस की है वो वो सारी जोधपुर में શું લઈ અલાય શું છે બેન ઓકે દાદા બોલો સ્વાગત કરું છું ચરણ કમળમાં હૈયું ધરું છું પ્રગટાત્માને સહુ સંદેશા એક સમયમાં પહોંચે તુરત જ વાંચે અંતર તારો કોઈ ન વચે રોકે વણડાયલનો ફોન કરું છું ચિતટે મુખ દેખું છું અંદર ચાલે છે જે કિરિયા રૂપ કે બહાર ચાર ગતિના ખુદી પટારા સુજના પડતી ઓ ઉપાદાન આફરીન કહું છું ઈણા ત્યાગ ગ્રહણે સ્વરૂપે ઠરું છું અમને દીધું નિજ સ્વરૂપ તે આદિ તિલક તિલક એ તો બરાબર છે અને કે ફૂલ આપજો કાળે ક્યારે જડા નહીં પરગટ મોક્ષ દુલારા સાધો જોડી પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કર ચરણ કમળમાં ધરું છું પ્રગટ પ્રભુ અહીંયા છું તું અચ્છા બંને આવ્યા છો કઈ છે ખરી ખરી હા સારું તો શું કરીશું થોડુંક વાત પૂરી બધું પૂરી કરી દો સત્સંગનો શરૂઆત જ થતી હતી તો પછી આપણે ચાલુ કરીએ સાંજે અમે મહારાજ સાહેબો સાથે આવીશું સાંજના સત્સંગમાં તે વખત તમે બધું સંભાળી લેજો આખો બે વારા વારાફરતી થોડે જે બધા પ્રશ્ન પૂછે એના બધા સમાધાન કરો બધા જય સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો અરિયંતાણમ નમો અરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આય રિયાણમ નમો આય રિયાણમ વજ્રાયાણમ નમો વજ્રાયાણ નમો લોહી સવ સાવણમ નમો લોહી સવ સાવણ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સવ પાવપણાસણો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવિસીમ મંગલાણમ ચ સવિસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ હમ હૈ હમ હૈ हम है हम है हम है हम है और इसीलिए और इसीलिए हम हम हमारे मन वचन काया को हमारे मन वचन काया को सही ढंग से सही ढंग से सभी रीति से सभी रीति से परफेक्ट परफेक्ट कम्प्लीटली कम्प्लीटली जैसा है वैसा जैसा है वैसा उनकी पहचान कर सकते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि हम है हम है हम है हम है मेरे मन वचन काया के साथ मन वचन काया के साथ पुरोहित जी ठीक है ना अगर हम है तो मेरी शरीर अलग है हमसे है लेकिन हम उसकी ख्याल करने वाले हैं है ना तो हम उसकी ख्याल करेंगे तो दूसरों का ख्याल में दूसरों को ख्याल में रखेंगे ख्याल में रखेंगे मैं मैं ना दूसरों को जो कुछ होगा वो हमें महसूस होगा दूसरों का दुख आप अपनाएंगे नहीं लेकिन आपको महसूस होगा को उनका दुख होता ऐसा मुझे दुख हुए तो क्या हुए मेरा तो ऐसा लगता है दुख अपनाना चाहिए कोई ले नहीं पाता किसी का दुख कोई किसी लेकिन उसके भुगतान में भुगतान में हमेरा जीवन के कारण कुछ असर कम हो जाता है असर कम हो जाता है समझे ना आपके पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कड़ी सजा करो और कोई होशियार जज आया हो बोले कई कोई बात नहीं हम सजा तो होगी उसको तो पहले ऐसे सजा दे कड़क सजा दे तो और पीछे हम दूसरे दिन हम आओ सब तो आखिरी रात वो सहरा नहरा हो जाएगा बहुत ढीला हो जाएगा रे रे रे तो दूसरे दिन अच्छा तो उससे उस कम कड़क की सजा देंगे तीसरे दिन है ना कोई बात नहीं उसको एक दिन के ऐसा करो नहीं तो जुर्माना कर दो ऐसा कर दे नहीं तो बड़ा गहरा गुना है सो तो ये मनुष्य दे मनुष्य दे हमने प्राप्त किया है वो गुना तो नहीं है गुना नहीं है वो सिविल जेल है सिविल जेल सिविल जेल महीना कुदरत का गुना किया है हम अभी ये कलयुग में ये मनुष्य रूप से हम जन्म पाए हुँ? हम्म? कुदरत का गुना और कुदरत का गुना तो सब कोई करता है लेकिन वो समझता है कि अपनी सत्ता है कुदरत को हमें हमें समझे इसी उनको रहना ही चाहिए ऐसी अपने ढंग से कुदरत को रहना चाहते हैं रखना चाहते हैं ऐसा हो सकता है हैं कुदरत एक ही है कि सबकी है हिम्मत सिंह जी सबकी है ठीक है क्या बोलते हो जोर से बोलना हाँ तो कोई अपनी ढंग से कुदरत को कैसा रख पाता है है कि नहीं ये झाड़ पान पशु पंखी वो खुद ऐसे नहीं करते एक मानव प्राणी ही ऐसा है तो उसको ऐसा होता है और दादा भगवान के आज एक कलयुग में सत्युग का प्रकाश ऐसे सही मनुष्य के लिए मनुष्य भव क्या है उसकी महत्व क्या है वगैरह सब समझ से आसानी से बहुत सादी भाषा में हमें समझ दे दी है सादी भाषा में वो, वो बच्ची कहाँ गई रेखा कहीं गई रेखा तेरे नहीं नहीं हाँ हाँ अच्छा नहीं तो उनको कुर्सी पर बैठना चाहिए नहीं नहीं आ जा आना आज नजीक यहाँ आ जा जगह कर हो जाएगी બાકી ચરણોમાં બેસી જા એ તો થઈ જશે તમારી જગા થઈ જશે બસ બસ બસ બસ જાઓ જાઓ અને જ- ખરીદે ખરીદે પાછો बस बस ये तो धात्रे वाली ही धात्रे वाली बड़ी है तो ये बात है तो चलो हम अपना सत्संग चालू करें सत्संग महीना हम एक दूसरे को अच्छी ढंग से समझ सके पुरोहित जी आपको सुनाई पड़ता है तो यहाँ आ गया अच्छा कोई बात नहीं यहाँ बैठ जाए नज़दीक में यहाँ नज़दीक बस बस हाँ बस बस चलते अभी अभी जमेगा ठीक है हम यहाँ सत्संग के लिए इकट्ठा हुए हैं सत्संग महीना दो शब्द का एक शब्द बना है पहला शब्द है सत क्या और दूसरा शब्द है संग सत का अर्थ है वो तो सब समझ पा रहे सत सत मन सत्य नहीं क्या बताया सत्य नहीं सत सत तो हाफ हाफ समझ में आया तो सत अलग है और सत्य अलग है और सत्य तो होना ही चाहिए समाज में अगर सत्य न होगा और मनुष्य के लिए हमेशा सत्य बोलना ही चाहिए ऐसा ना होगा तो समाज में उलट सुलट हो जाएगी सब बहुत उलट समझे वो तो होना ही है लेकिन वो व्यवहार का वो व्यवहार का सत्य है कौन सा व्यवहार का लोक व्यवहार सबको मानव समाज का चला रहा ना उसके लिए है समझे न तो उसमें भी भगवान ने मान्य रखा है सत्य को लेकिन उनकी कुछ मर्यादाएं हैं कि भाई हर एक को अपनी जीवा से जो वाणी निकलती है वो वाणी शब्द जो निकले ऐसे ऐसे प्रकार के निकले जैसे बताओ बोल से बोल जोर से बोलो आपका आवाज अच्छा है जैसे बोलो तीन प्रकार बोलो हित हित क्या बताया हित तो खुद का हित खुद का हित वो खुद का इच्छा खुद संभाल सके ऐसा शब्द निकले ऐसा शब्द न निकले कि खुद का अहित हो जाए ऐसा हो सकता है होता है ना ऐसा शब्द ऐसा निकल जाए खुद का तो अहित होता है सामने वाले को दुख देता है ऐसा होता है ना ऐसा नहीं निकलना चाहिए हाँ तो हित वाला निकलना चाहिए खुद का हित और सबकी सभी का हित निकले प्रीत प्रीत समझे ना को सुनने में मीठा लगे वो हम्म? सुनने में ऐसा ना लगे कि कोई बोलते हैं ना अरे क्या आप बानी निकालते हो आपकी बानी ऐसी है कि जैसा एरो लगता है ना सीधा ये यहाँ लग जाता है एरो हृदय में ऐसा शब्द निकलता है ना कभी कभी हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए मीत प्रीत होना चाहिए प्रीत कान को सुनने में बड़ा अच्छा लगे खुद को समझने में सर में अच्छा लगे तभी दूसरे को सुनने में अच्छा लगेगा क्या और पीछे मित मित मित महीना अगर एक दो शब्द में बात समझाई जाती है तो लंबी सब वाक्य के उपक्रय की जरूर नहीं है समझ में आए जितने कम में हुँ? हम्म, ऐसा हो सकता है वो व्यवहार वो सब अच्छा व्यवहार होगा कि नहीं हाँ और हित मित प्रिय और निर्दोष निर्दोष हो रही चाहिए वाणी किसी की कुछ करो लेकिन मश्करी मत करो ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए हुँ? हम्म? टीका नहीं होनी चाहिए निंदावाचक शब्द नहीं होना चाहिए हुँ? हम्म? वो होने होगा तो सब ये कलयुग है होता है लेकिन वो अंदर रखना चाहिए खुद के लिए है बाहर नहीं आना चाहिए वो क्या ऐसे व्यवहार सत्य हो और सत्य वो ज्ञानी पुरुष की वाणी भगवान की वाणी सत बोला जाता है तो सत और संग संग महीना कंपनी क्या कंपनी कंपनी को हिंदी में क्या बोलेंगे साहब साथ साथ वाले मनुष्य प्राणी बिना साथ वाले कंपनी से नहीं रह पाता है कि नहीं शादी किसके लिए करनी पड़ती है शादी किसके लिए करनी पड़ती है हाँ एक दूसरे का साथ के लिए है ना लेकिन एक दूसरे का साथ करें और एक दूसरे के पीछे अंदर से अलग रहे और बाहर से दिखावा करे अच्छा लगता है क्या किसी को अच्छा लगेगा नहीं समझे न कंपनी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसी जिसकी कंपनी वैसा उसका रंग तो हमेशा कंपनी अच्छी रखनी चाहिए सतसंग में ना जिसने सत पाया है ऐसे लोगों की सारा ग्रुप है ऐसी संग ये कंपनी है समझो तो समझो हंसो है हंस हंस बोलते हैं ना स्वान तो उसका है ये सब तो एक दूसरे के लिए कितना प्रेम से रहते हैं और उसका बड़ा हों शायद कितना होता है ऐसा होता है वहाँ को अच्छा नहीं होता विखवाद लेकिन एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है एक कलयुग है तो ये तकलीफ बहुत है तो दादा भगवान ने उसके लिए मानव जीवन सरलता से सहजता से जैसी जैसी अंदर समझ प्राप्त होती जाए वो बानी समझते समझते वो आज शक्य हो गया है बड़ा अच्छा इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं तो अभी हम बोलेंगे और आप सुनते रहेंगे ऐसा नहीं करना है आपके तरफ से जिसको जो पूछना हो पूछो बहनों आपके तरफ से जिसको जो पूछना हो पूछो चालू करो उसके आगे हमारे पास ये दो हमारे अनुभव के सूत्र है उसके लिए पुरुष आई है लेंगे हम्म? कहाँ गया थोड़ा पानी दो कौन देगा निकाल के रखो है अंदर निकाल के रखना हम्म, हाँ ले लो ले लो हम्म। ये कौन પહેરાઈ थी દામજી ના આપણા મેલાબચંદજીને પહેરાવી દો જાઓ કોણ છે બેનો પછી हाँ ये पधारिए फर्स्ट क्लास किसने बनाई ये माला माला किसने बनाई हैं हैं माड़ी माड़ी अच्छा अच्छा भाव किसका था आपका क्या उनका ये कौन है आपके गुरुजी जी है क्या गुरु जी <laughs> वो तो कितनी छोटी हो जाती है नहीं नहीं नहीं ऐसा मत करो बैठो कहाँ गया वो एक छोटा सा पद ले लो अच्छा हम्म। कोई हिंदी वाला हो तो सबको अपनी ओ सुनीता बनकर को है ना दादा हमारे पथ जीवन पथ पर ऐसा करो चलो बड़ा अच्छा है जाने दो आज हम यहाँ आए किसी में जल्दी तो है ही नहीं खाने की बहुत टाइम है अगर उसमें थोड़ा पंद्रह मिनट ज़्यादा हो गई तो हरकत नहीं आएगी ना किसी को अरे और जिस भूख लगेगी तो खाने की सबको मजा आएगी <laughs> है कि नहीं आपके पास पुस्तक में है कि नहीं पुस्तक हाँ सरी बहन देखो डायरेक्टर अच्छी है कि नहीं अब तो वह सब कुछ रखती है <laughs> क्योंकि उस, उनके स्कूल में हिंदी सब सब, सब प्रकार की भाषा चलती है हिंदी मराठी इंग्लिश और गुजराती चार चार भाषाएं बिहारी आनंद जी हाँ आपको उनका स्कूल में क्लास में जाना चाहिए जाते हैं <laughs> चलो जय सच्चिदानंद बड़ी अच्छी उनकी स्कूल है अंधेरी में दो दो विद्यार्थी है और इस मोहम्मद सब सब प्रकार के बोलो सब इतना प्रेम से स्कूल चलती है हुँ? हम्म, उनके माँ बाप इतने खुश है सब चल के हर एक साल में उनका एक उत्सव स्कूल का मनाया जाता है और उत्सव को वो डायरेक्टर साहिब है उनका जन्मदिन पर वो जन्मदिन मेरा मेरा जन्मदिन शरीर का नहीं मेरा मैंने जन्म जो पाया है जिस जिनके पश्चात मृत्यु नहीं है उसको जन्म बोलते हैं हम्म? उसको अजन्मा जन्म बोलते हैं क्या बताया हाँ ऐसा अर्थात जिस दिन हमें हमारा ज्ञान प्राप्त कर प्राप्त कर लिया हम कौन है और हम मानते थे कि हम है वो कैसा निकला कैसा है कब कै उसका सभी उसका प्रकार वो समझ लेना चाहिए दोनों दोनों ढंग से समझ लिया ना तो ज्ञानी पुरुषों सब समझ दे देते हैं हम्म? तो ऐसी वहाँ बहुत अद्भुत है चलो चलाओ क्या है ये पद बोलते हैं हम उनको उसके पश्चात बोलेंगे हनुमंत किस हनुमंत राज एक नाटक करते करते थोड़ा अनंत नाटक लिख देते फिर से एक नाटक करते करते नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते कुछ पेन नहीं साई नहीं कागज नहीं कुछ नहीं लेकिन ये जीवन नाटक वाला है उसमें नाटक करते करते दूसरे कई जन्मों का नाटक हम लगा देते हैं आसानी से लेकिन नाटक बनाने वाले को तो बहुत तकलीफ होती है एक एक नाटक बनाना आसान नहीं है तो हम खुद अपना नाटक एक नाटक करते करते अनंत नाटक આવી રીતે બોલો आगे अनंत नाटक लिख देते બ્રેક ના રાખશો બ્રેક ના કરશો દે હટતે પ્રશ્ન ચિહ્ન પાત્રતા પર લગ જાતે स्थूल क्रिया दे किसी की अपना मत सरे आम देते अपना मत सरे आम देते अज्ञानता से जाने कितने अज्ञानता से जाने कितने विश्चकरों में फंस जाते चक्रों में फस जाते अनादि अनंत श्रृंखलाए अनादि अनंत सुख लाए भ्रांति में ही रच लेते भ्रांति में ही रच लेते आरोपी તન્મયતા અરૂપી રૂપી તન્મયતા કૌતુહલ સંસાર જગાએ કૌતુહલ સંસાર જગાએ તંદ્રા તોડે કડવે ફલ अनुकूलता में तो जड़ हो जाते अनुकूलता में तो जड़ हो जाते स्वरूप देकर कहते ज्ञानी स्वरूप देकर कहते ज्ञानी बंधन दूजा कोई न डाले बंधन दूजा कोई न डाले एक नाटक करते करते एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते अनंत नाटक लिख देते कर्म आगंजल फिर भी न बिखरे कर्म आगंजल फिर भी न बिखरे स्वर्ण समान तप तो ही निखरे सर्गुण समान तप तो ही निखरे देह सोए फिर भी जागे देह हसोए फिर भी जागे हर एक अवस्था को पहचाने हर एक अवस्था को पहचाने मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा दादाजी सम जाते दादाजी सम जाते एक नाटक करते करते नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते अनंत नाटक लिख देते अनंत नाटक लिख देते अनंत नाटक लिख देते जय सच्चिदानंद ये जीवन नाटक का ये पद है हरेक को अपना जीवन नाटक समान है उसका पद है खुद अपने अपना नाटक लिख लेता है और जीवन में जैसा नैसा नाटक चलता जाता है उसमें नया नाटक सर्जन करता जाता है सर्जन नया नाटक न करे तो आखिर जन्म मिलता नहीं तो करे क्या हम ऐसा सभी को मालूम तो ये सब है ही नहीं आपो आप हो जाता है आपो आप और एक नाटक लिखने वाले को तो कहीं मेहनत करनी पड़ती है कि कठिन परिश्रम करना पड़ता है कितनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है यहाँ तो खुद बन जाता है नाटक रेखा नाटक है ना नाटक है ना हाँ तो नाटक का एक पार्ट हुआ ना कि नहीं तो घर में घर घर जाके बताना नहीं नहीं तो हैरान हो जाएंगे वो हाँ। तो हमारे हनुमंत राज जी ने एक पूछा है पहला एक लेते हैं श्रेणी छठ का श्रेणी नंबर छः हमारे सत्संग पच्चीस छब्बीस साल में हुए कहीं सभी जगह तो उसमें से हमारे दीपकानंद स्वामी जी को कुछ कुछ अच्छे लगे और महात्मा को अच्छे लगे तो उसको लेके कि तो सभी महात्माओं का काम में आवे ऐसे है तो उसकी पुस्तकें बनाई है तो पुस्तक नंबर छः से सूत्र एक का है एक જેમ જેમ સત્તા સામર્થ્ય और શક્તિ વધારે હોય जितनी जितनी सत्ता सामर्थ्य और शक्ति ज़्यादा हो तैसे तैसे वो नमेला होता है झुका हुआ होता है कौन किसके प, प, किसके आगे नबले के आगे नबला बोलते हैं ना कमजोर के आगे कमज़ोर आगे वो नमे तो उनको जो नमता है उनको अंतर से क्षमा गुण सहजपणे होता है अंतर से उसे क्षमा देनी नहीं पड़ती किसी को हुँ? हम्म? जो नबल कमज़ोर है उसके आगे और जो बलवान है उसको मालूम पड़ जाता है बिल्कुल कि भाई यहाँ अपनी नहीं चलने वाली ठीक है लेकिन वो समझ जाता है कि वो हम तो उनके समझ में नहीं हमें आता है हिसाब वगैरह पर क्षमा उसको होती रहती है उसको उसको भी मालूम हो जाता है दोनों पक्ष वाले को क्षमा गुण क्षमा गुण सबसे ऊंचा गुण है मानव जीवन में और मानव जीवन में कर्मों से मुक्ति पाने का एक बड़ा भव्य एंट्रेंस है क्षमा गुण हम्म? रसिक भाई साहब क्या बताया है आश्रम में ओ जी ने क्षमा मोक्ष भव्य दरवाजो हाँ, मुक्ति का मोक्ष का क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है यहाँ से मुक्ति मिलते क्षमा हम्म, तो मानव की प्रकृति में जो सभी गुणों होना चाहिए मानवता वाले इंसानियत वाले उसमें क्षमा गुण सबसे बड़ा है सर्वप्रथम है तो हनुमान पीछे तो लिंगे अहमदाबाद आने वाले हैं हाँ, हाँ लो रखो अभी आप बात करो चलो किसको क्या जो हो पूछना हो पूछो किसी को है आपको है कुछ नहीं है ठीक हाँ अब सुबह में बात कर रहे थे रेखा बहन से हाँ उनको बताया कि आपकी जब शादी हुई थी तो पंडित जी ने एक घंटे में ऐसा क्या जादू कर दिया हम्म। कि एक घंटे के बाद वही जो है वो आपके पति देव हो जाते हैं और सारे जीवन तक आपको ये महसूस होता है और यह मान्यता बदलती नहीं है वो बोलते हैं कि ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं तो फिर कहा कि ज्ञानी पुरुष भी ऐसे ही हम्म। एक घंटे में आपको आप आपकी पहचान करवा सकते हैं तो ऐसे आपने समझाया था हाँ करवाते हैं हम्म। बोले वो कैसे संभव है तो हम्म। आप बताइए दादाजी क्योंकि ज्ञानी पुरुष हर कोई क्या है और किसी को ऐसा ना लगे कि मैं नहीं हूँ उनको उन, उनको मिलते ही मिलते ही जो मिला है उसको ऐसा लगेगा क्यों कि ज्ञानी पुरुष में मानव के जो स्वभावगत उनकी प्रकृतियाँ है कि मैं और मैं करने वाला मैं तो जानता नहीं हम कौन हैं हुँ? हम्म? फिर भी करने वाला तो उसके हिसाब से सभी लोग होते हैं और ज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं होते उनका शरीर है आपके सर का शरीर है आपका सर का सभी प्रकार का व्यवहार है उनका फिर भी आप उनके साथ मिले उनके साथ परिचय करें तभी मालूम पड़ जाएगा तभी हो जाएगा ये समझे तो उसमें ज्ञानी पुरुष कर्ता भाव से मुक्त होते हैं मैं करता हूं तुम करते हो और वो करते हैं ऐसा उनकी डिक्शनरी में नहीं होता ज्ञानी पुरुष की वो ज्ञानी पुरुष की डिक्शनरी वो ऐसी है इसीलिए उन्हें देहधारी परमात्मा पद ऐसा है ऐसा समझा जाता है शास्त्रों में देहधारी परमात्मा परमात्मा वैसे तो किसी को नज़र में नहीं आ सकते परमात्मा का प्रकाश आत्मा अंदर है लेकिन सब लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा लेकिन ऐसा नहीं होता उसका मतलब अलग है और लोक भाषा में अलग ढंग से आ जाता है तो पुरुष प्रयत्न करने लग जाता है परमात्मा बनने का कभी नहीं हो सकता वो पहले तो आत्मा ही नहीं हुआ तो परमात्मा क्या होगा हाँ? जो आत्मा आत्मा स्वरूप से आत्मा स्वरूप ने जिन्हें पाया है और आत्मा हुआ है वही उसे उसी समय से परमात्मा पद की पूरे परिपूर्ण होनी चालू स्थिति हो जाती है उसकी मानव जीवन में तो देह के साथ ऐसा आत्मपद पाया कि हम जो है उसको समाज जाए कि हम शुद्ध आत्मा है क्या बताया हाँ, और ज्ञानी ऐसे है कि उसका सिद्धांत में सब कुछ आ जाता है संसार और मोक्ष सभी की पूरा सिद्धांत इनका आ जाता है तो हम जानते नहीं थे हम कौन है और ज्ञानी पुरुष से आपको जानकारी पक्की दे देते हैं और आपको जो जानकारी थी वो गलत निकली और वो कैसी है और वो क्या है उसका भी पूरा ज्ञान दे देते हैं समझे जैसे सोने के ऑर्नामेंट में दूसरी धातु होती है तो सोनकार तो अच्छी ढंग से जानता है कि सोना कैसे अलग निकालना तो निकाल के बाकी रखते बोलते कि आपका सोना ऐसा ज्ञानी पुरुष आपको आत्मा क्या बताया आत्मा और अना, अनात्मा अनात्मा मतलब शरीर हुँ? हम्म? जो शरीर आत्मा नहीं है वहां हम हम करके मानते चले जाते हैं समझे ना तो ज्ञानी पुरुष ये शरीर के सभी गुणों से प्रकृति के सभी गुणों से सदा मुक्त है हमेशा मेरे वो करने वाले में अहंकार की बाबत में और ममता की बाबत में वो सभी प्रकार से मुक्त है तो इसीलिए आपको उनका शरीर उनके अनुभव के कारण आपको माध्यम बन सकता है और आपको ये आत्मज्ञान का और स्वरूप ज्ञान का प्राप्ति करवा सकते हैं समझ पूरी दे देते हैं देह क्या है प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है पुरुषों परमात्मा है हिम्मत सिंह जी आप समझे ना ये बात है आप तो लास्ट टाइम बैठे थे मेरे साथ हुँ? हम्म? लेकिन ज़्यादा हम मिले नहीं है समझे ना तो ऐसा है आप महात्माओं में से किसी को क्या कुछ बात करनी है ये तो हमारे महात्मा तो सब जान के बैठे हैं लेकिन कोई नए आए हों कोई जानने इच्छा हो यहाँ के हो लोकल हो ये सब ने दादा भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अच्छे ढंग से बैठ गए सब सबका व्यवसाय बड़ा बड़ा व्यवसाय सबका होता है सबका फिर भी व्यवसाय चलता है अंदर आनंद रहा करता है समझे ना व्यवसाय में तो कई कई परिस्थितियाँ आती है आती है नहीं पर अंदर आनंद रहता है सभी को हम्म? एक प्रसंग था बम्बई में अंधेरी में एक महात्मा के वहाँ दादा भगवान गए थे तो महात्मा का पार्टनर था वो फ्रेट और शिपिंग का काम करते थे उसकी पेड़ी है थी फर्म तो वो उसका पार्टनर था जामनगर से आया हुआ था उनके वडिल थे उसका लड़का संभालता था और ये अंधेरी वाले अपने महात्मा सत्संगी है उसके साथ पार्टनरशिप में लोगों को धंधा करते थे शिपिंग और फ्रेट को बोलते हैं ना ऐसा तो दादा भगवान साथ सब महात्मा गए रसिक भैया हो गए कद मेरे को मालूम नहीं है लेकिन गए सत्संग रसिक भाई नारे चानिया के वहाँ तो बैठा तो पार्टनर सुबह गए थे तो पार्टनर नहा धो के आया तो पीछे ऑफिस में वो रसिक भाई का लड़का और दोनों ऑफिस में जाने चले गए वो निर्माण पॉइंट पर जाते जाते जैनों का संस्कार बड़ा बचपन से अच्छा मिलता है सभी को मिलता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उन्होंने उन्हों को एक प्रकार से जो राग देश से मुक्त है ऐसे वितराग है उनकी आराधना पूजा भक्ति होती है इसी कारण ऐसा होता है और हिंदुओं को अपना कृष्ण भगवान वासुदेव या शिव जी जितनी नैयत से अच्छी नैयत से पॉजिटिवली जितनी आराधना पूजा होती है उनको भी ऐसा होता है दोनों को ये दोनों का मार्ग एक ही है मुक्त होने का हुँ? हम्म? लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो जाते एक दूसरे का मतभेद निकल जाता है तब एक हो जाते हैं दोनों समझे रस्ते हैं लेकिन दोनों अली कर जाते हैं तो वो जाते जाते बैठा अंदर तो उसको तो दादा भगवान और उसका ज्ञान के बारे में ज़्यादा माहिती नहीं थी ज़्यादा तो आया देखा हाँ पीछे उसको ऑफिस में जाते जाते बोला ठहरो अच्छा दादा भगवान बोला हाँ। हाँ, क्या लगता है तू आया तो समझ में आया कुछ पूछा नहीं तो कि नहीं नहीं लेकिन मुझे एक समझ में आ गया कि मैं यहाँ बैठा और आपके साथ इतने लोग हैं और इतने सत्संग करते हैं तो मैं ही देखता रहता था कि सभी के मुख ऊपर दिखता रहता था मैं सभी के तो मैंने देखा मैं धर्म तो धर्म में सभा में सभी जगह हो जाता है लेकिन ऐसा सबके मुख पर जो आनंद है क्या बताया आनंद है उससे देख के मैं हैरत हो गया आनंद देखो मिला नहीं है पहले टाइम ये अनुभव उसका ऐसे ये लोग बैठे हैं सब आनंद क्या चीज़ है दिखाई पड़ती है नहीं आनंद का अनुभव अंदर का है अंदर का क्यों कि जब सत प्राप्त होता है सत सत और असत दो है समझे ना तो व्यवहार में तो दो साथ साथ में है लेकिन भगवान की भाषा में जो सत्य है वो प्राप्त होता है तर सत्य के कारण अपनी जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस बॉडी में जो होती है जिससे जीवन चाहता है उसमें सत की कॉन्शियसनेस अलग खुली हो गई है और बाहर व्यवहार में व्यवहार की कॉन्शियसनेस से व्यवहार चलता रहता है दोनों का जनक विदेही राजा थे कि नहीं जनक विदेही सुना है नहीं हाँ, ज्ञानी थे राजा बड़ा राजा था फिर भी ज्ञानी था वी दे महीना जो देश साथ में है फिर भी अंदर से वो देश से मुक्त है शरीर देश राजा राज करता है उसका राजा का लेकिन अंदर से मुक्त है वो ज्ञान से है आत्मज्ञान से तो उसका अनुभव था ऐसा हम्म, नानू भाई करके उसका नाम था देखा पहला हम्म। अब थे नहीं अच्छा हाँ। तो बोलो ना जीवन पथ के ऐसे सादे बोलो तो मजा आवे जीवन के पथ पर ऐसा है कि नहीं हिंदी पद हाँ अच्छा सरी बेन अब पद ले जरा आज ये मशीन को थोड़ा ऐसा लगता है तो <laughs> अभी आया सब चलता ही रहता है मशीन એ बाजा चलता बसता रहता है और वाणी में शक्ति कही जाती है लेकिन सत्संग में वो वाणी में तो है ही लेकिन शरीर तो शरीर है ना आपका आखिर ऐसा है कि नहीं आपके पास साहब तो बुलाओ चलो दम दबाओ ये दादा भगवान से ये आप तो पुत्रो है अखंड आजीवन ब्रह्मचारी और एक एक ऐसे दिल वाले है दिल वाले हुँ? हम्म, सारा भारत घूमते हैं प्रदेश में घूमते हैं और उस उनका हृदय मृदु होता है रुजु होता है हुँ? हम्म, जैसा उसकी आप क्या क्या વખાણ ને શું કે तारीफ जितनी उनकी तारीफ किए जाए बस सबकी हाजिरी में उतना वो संकोच हो जाएगा उसको ऐसा होना तो अच्छा है ना तारीफ करे और संकोच नहीं हाँ, होता बड़ा हो जाता है हा? नहीं होता है अब बड़े क्यों नहीं हो जाते तारीफ करते हो तो आपकी तो अंदर से छूटे रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आज देशदारी परमात्मा ये कलयुग में कलयुग में असंभव है वो संभव हुआ चलो दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा दादा हमारे जीवन पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो सा तुम्हारा प्रेरक बल हो सा तुम्हारा बड़े चले हम रुके न क्षण भर बड़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा की बानी अमृत पीकर दादा की बानी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण पियारा बिखरा देंगे प्राण पियारा दादा तुम्हारे पावन पथ अच्छा। पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा नई दिशाए नई लगाए नई हवा हम फैलाए नई हवा हम फैलाए विकल्पी इस दुनिया को हम विकल्पी इस दुनिया को हम रूप बना पाए नीरी कल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत इस जग के कल्याण निमित्त सत हो क्रम विज्ञान विशाला हो अक्रम वि ज्ञान विशाला दुनिया का आध्यात्म केंद्र दुनिया का आध्यात्म केंद्र हो जा संयम प्राप्त स्वधारा हो जा संयम प्राप्त स्वारा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा राह में चलते कदम खुदा के राह में चलते कदम कुदा के हो वचन वच काया की शुद्धि हो मन वच काया की शुद्धि प्रतिक्रमण की सुभावना से प्रतिक्रमण की सुभावना से अतिक्रमण हम धोते जाए अति अतिक्रमण हम धोते जाए आत्म दर्पण हो बेदागी आत्म दर्पण हो बेदागी हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना हो यह पंच पुरुषार सुहाना पंच परमेष्ठी भगवन मुख पंच परमेष्ठी भगवन मुख पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख अपना ही परमात्मा न्यारा अपना ही परमात्मा न्यारा दादा हमारे पथ पर दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो सा तुम्हारा प्रेरक बल हो सा तुम्हारा ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो चारित्र व्रत बन जाए चारित्र व्रत बन जाए केवल आत्मा में ही उपयोग में ही उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए निश्चय की यह नाव न डूबे निश्चय की यह नाव न डूबे वरदान तुम्हारा मिल जाए वरदान तुम्हारा श्रद्धा की जल हल ज्योति से श्रद्धा की हल ज्योति से निकाली व्यवहार हमारा व्यवहार हमारा दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि चारित्र सिद्ध हो जाए चारित्र सिद्ध हो जाए रत्नत्रय निज त्रिवेणी तपसे रत्नत्रयप्यप्रिवेणी तपसे भावी ही मिट जाए भावी ही मिट जाए रिलेटिव री रियल देखेगा रिलेटिव रियल देखेगा केवल आत्म स्वरूप हमारा केवल आत्म स्वरूप हमारा अग्न अनादि रात बीतेगी अनादि रात बीतेगी होगा चार गति में उजाला होगा चार गति में उजाला शासन रक्षक देवी देव शासन रक्षक देवी देवो शांति दूत बन कर आओ शांति दूत बन कर आओ आप कृपा की पवित्रता से आप कृपा की पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहराओ धर्म ध्वजा को लहराओ लोकाग्री आकाशी पथ से लोकाग्रे आकाशी पथ से नर्तित मुक्ति सुख की धारा नर्पित मुक्ति सुख की धारा आशीष दो हाजिर तीर्थंकर आशीष दो हाजिर તીરથંકર બરસો પ્રેમ સ્વરૂપ કરુણા બરસો પ્રેમ સ્વરૂપ કરુણા બડે ચલે હમ રૂકે ન ક્ષણ ભર બડે ચલે હમ રૂકે ન ક્ષણ ભર બડે ચલે હમ રૂ કે નક્ષણ ભરે ચલે અમૃકે નક્ષણ ભર હોય દ્રઢ સંકલ્પ મારા હોય દ્રઢ સંકલ્પ મારા દાદા તુમારે પાવન પથ પર દાદા તુમારે पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा नई दिशाए नई जगाए नई दिशाए नई जगाए नई हवा फैलाए नई हवाम फैलाए दादा तुम्हारे पावन पथ पर दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा जीवन अर्पण हो सारा રસિકભાઈ સાહેબ ચલો આપણે આપનો સરીબેન કહે છે એક લઈએ સૂત્ર એ અમે अब गुजराती चलेगी हाँ सूत्र में हिंदी में है अच्छा हिम्मत सिंह जी बात ऐसी है न कि जो ज्ञान आत्मा का परमात्मा संबंधी सबूर स्वरूप का सभी प्रकार से पहचान सही संपूर्ण रीत से हुँ? हम्म? और जो शरीर जिसे लोग जड़ बोलते हैं जैन भाषा में उसको पुद्गल बोलते हैं तो शरीर और प्रकृति जो है वो प्रकृति अपने अपने गुणों से है बिना गुण तो प्रकृति होती नहीं लोग बोलते हैं शास्त्र में समाज में समझ है कि भाई सात्विक राजसी और तामसी ये तीन प्रकृति तो समझते हैं लोग सब समझ सकते हैं तो ऐसी प्रकृति वो दोनों अलग ढंग से अलग ढंग से होना वो एक काल में ऐसा पद होना बहुत मुश्किल है क्योंकि सामान्य ढंग से तो जो चाले आगे से चलाया हो वही मार्ग चलता है लेकिन आज एक कलयुग में ये मार्ग में हमें जो शरीर साधन है शरीर से जो आराधना क्रियाएं करके हमारे आत्मा को हमारे घर को ढूंढना है और घर हमें मिले ऐसा जीवन की आराधना है उसमें आज शरीर इतना ऐक्य भाव से नहीं रहा जैसा मन में हो और मन में होते ही वो वाणी में आवे वही उसी प्रकार और जैसा है वैसा मन में हो वाणी में आया उसी प्रकार वो व्यवहार में वर्तन में हो ऐसा योग आज रहा नहीं कलयुग में कलयुग में ये कर्म के कारण ऐसा नहीं रहा कोई किसी मनुष्य सभी मनुष्यों का ये अनुभव है सारा भारत में मन वाणी और काया व्यवहार ये तीन ऐसे जुटे हुए योग से होते हैं जिसको एकात्म योग बोलते हैं व्यवहार में व्यवहार में जीने का शरीर में वो द्वापर युग में होता था आज कलयुग है जैनों जैनों में पांचवा अलग कहते हैं उसमें है फिर भी धर्म का प्रवर्तन है जरूर है तो ऐसा योग न होने के कारण आज ये ऐसा एक मार्ग निकलना कि जो अवतारी पुरुष है युग दृष्टा पुरुष है और जिसे सभी सभी युगों की समस्याओं आसान से उसका सुलझन मिल जाती है आसान से ऐसे पद होना बहुत मुश्किल है वो है दादा भगवान वो है दादा भगवान और दादा भगवान को जो सिमंदर स्वामी परमात्मा है ऊपर वितराग पुरुष अरिहन परमात्मा अपनी जैसी दूसरी दुनिया है वो दुनिया हमेशा सारा काल चक्र द्वापर युग का होता है सारा काल चक्र ये जगह ही ऐसी है बद्यलोक में उनके साथ उनका अनुसंधान और इसके कारण ये सभी एब्सोल्यूट नॉलेज केवल ज्ञान और केवल दर्शन और व्यवहार के सभी जो भी व्यवहार के पहलू को कोई भी हो उसकी अच्छी समझ आसानी से जैसे कि ऐसा खुला हुआ मार्ग है अक्रम मार्ग बोला गया है अक्रम महीना जवाब पहला मिलता है और पीछे ये व्यवहार की जो रीत रीत है शरीर की कलयुग की आई हुई वो रीत अब आप पूरी कर लो जवाब पहला तो हमें कॉलेजों में थियोरम सिखाते हैं थियोरम मालूम है ना थियोरम तो थियोरम में वो रीत पूरी करके जवाब आता है एकदम नहीं आता है कि नहीं कौन कौन आए અરે એમને અહીંયા બેસવાનું કરો ભાઈ જુદી અપાટ પર અરે મુક્તિ પ્રભાજી પ્રણામ પધારીએ પધારીએ પધારીએ गुरु जी की प्रभाव से और लंका शाह जी की सारी उनकी परंपरा चली रही है स्थानकवासी संप्रदाय में हुँ? हम्म? उसमें देखा तो हम आए थे तब क्या था अब क्या है <laughs> हाँ ये अवस्था है अवस्था बदली रहती है जैसा धर्म का ये वीर प्रभु के वीर शासन में जैसा जैसा भी समझ जाता रहता है ऐसा धर्म का अनुशासन और प्रकाशित होता जाता है और प्रकाशित कहीं कहीं लोग जो जैन नहीं है वो भी समझते हैं कि भाई मार्ग कैसा है जीवन कैसा है जीवन कैसा जीना चाहिए वगैरह वो प्रकार है पूरा हम्म, वो सारा विज्ञान है विज्ञान तो साता देह को साता है अंदर से सुख है शस्त्र हाँ हाँ देखो शाता हुआ वो भी शाता है हमें तो तो शाता तो शाता करेगी <laughs> क्या यही माहिर भगवान का वीर प्रभु का ज्ञान है आत्मज्ञान का प्रकार है सारा व्यवहार में व्यवहार जिस जिस ढंग से जैसा जैसा भी हो उसकी समझ सबको मिल जाती है लेकिन उसके लिए आपने जो ऐसे अर्थात संयम पर्याय लिया है और उसके लिए तो हमें ये वेश धारण किया है हुँ? हम्म? है लेकिन आज ये पांचवें आलय में दादा भगवान ने बताया कि मोक्ष सर्वसामान्य ऐसी समझ है मोक्ष के लिए कि वो शरीर कहीं कष्टों से निकलते हैं उसको तब बोलते हैं तो कष्ट वाला मार्ग से सभी तप क्रिया की जाए तभी मोक्ष प्राप्त होता है वो बात सच्ची है लेकिन वो देश और काल के हिसाब से है चौथा आ रहा हम्म? तो या तो यहाँ पहुँचे पांचवा आ रहा है तो क्या करे तो लेकिन हकीकत में वितरागों के सिद्धांत के अनुसार पधारो वितराग के सिद्धांतों के अनुसार हाँ? अरे वाह बताओ अरे वाह और प्रकाश भैया आ गए वाह कुर्सी अरे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जय सच महाराज साहब बताओ तो सिद्धांत के स्वरूप में मोक्ष और मोक्ष पाने का मार्ग जीवन में मानव जीवन में जो है वो हकीकत में वो कष्ट साध्य नहीं है ये काल में खास करके और चौथे आरे में वो जरूर था क्यों कि शरीर की क्षमता ऐसी थी कि जो शरीर के कष्ट में तप और संयम का मार्ग है जो और जो हमें आत्म स्वरूप प्राप्त करने में बाधक होता है व्यवहार वो सभी को ऐसा व्यवहार को त्याग करना तप और त्याग ये मार्ग है और ये संयम मार्ग तो चला आता है वो रहने ही वाला है पूरा वीर शासन है वहाँ तक रहेगा लेकिन उसमें महावीर भगवान की वीर भगवान की जो उत्तम दशा थी केवल ज्ञान की उसमें जो विज्ञान से उन्होंने बातें समझाई है वो विज्ञान उस काल में वो लोग समझ लेते थे थोड़ा बोलता था तो भी पूरा समझ लेते थे ऐसे थे और आज में पूरा शास्त्र करो कितना बात करो तो भी समझ मिलनी बहुत मुश्किल है लेकिन दादा भगवान ने बताया सिद्धांत में वितरागो सिद्धांत में मोक्ष मार्ग कष्ट साध्य नहीं है वो सहज साध्य है कष्ट से पुण्य का उपार्जन जरूर होगा उसका फल आएगा लेकिन कर्म से मुक्ति नहीं होती पर कर्म से मुक्ति होने के कारण ये मार्ग जरूर है उसमें हरकत नहीं है लेकिन ये मार्ग में अगर माहिर भगवान की उनकी अंतर की आज्ञा कि आज ये चतुर्विध संघ ने जो स्थापना हुई कि साधु जी साध्वी जी श्रावक श्राविका ऐसे चार प्रकार से सारा समाज बिता हुआ है दोनों में उसमें उस संघ की स्थापना की संघ कौन संघ मना क्या तो संघ इतना मनुष्यों का सारा समूह है कितना विशाल मनुष्य का सभी में एक भाव से सब प्रगति करे सभी लोग संघ भावना वो की जरूर लेकिन उन्हें आज्ञा उसकी क्या थी कि ये पाठ पर हमारे धर्म की आराधना होती है और व्यवहार में संसारियों को सही समझ देने का हमारा कर्तव्य है हमेरा कर्तव्य है वो हम निभाए और हम हमेरा खुद का भी कल्याण हो ऐसा में हम काम करें इस ढंग से है लेकिन माही भगवान ने बताया कि हर एक को उसके अंदर जैसा बुखार आता है तो बुखार के लिए कितना है भाई तो थर्मोमीटर रखते हैं हम्म, कि भाई सौ एक सौ है एक सौ एक है नवाने है कोई भी बुखार तो थर्मो ऐसा महावीर भगवान ने बताया हर एक ने त्याग मार्ग में और संसार में दोनों में दोनों को अपनी अपनी ढंग से वो थर्मोमीटर बहुत ज़रूर है कौन सा तो कि हमें क्रोध मान माया लोभ जिसको कषाय बोलते हैं कषाय कषाय महीना हमें जीना तो सरल से आसानी से जिससे कैसा सभी की भावना होती है फिर भी एक रोधमान मान मायालोप अंदर हमेशा आज का व्यवहार में बना ही रहता है कोई लाख उसको दबावे अंदर है पर नहीं कर सकते लेकिन अंदर से बाहर कितना ही करे लेकिन वो उसको बहुत बोझा रूप लगेगा तो भगवान ने बताया कि हमेरे कषाय नम्र मौर्य नम्र होते जाते जाए ये सही मोक्ष का मार्ग है और सही आज्ञा वही है लेकिन माए भगवान ने इसे प्रत्यक्षता से आज्ञा नहीं दी लेकिन उनके पाठ पर से संयमधारियों से ये आज्ञा समाज को समझाई गई और जो पाठ पर है वही यही ढंग से समाज को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं धर्म के आराधना के बाबत में जीवन के सभी व्यवहारों के बाबत में वो सभी में वो अंदर से अपने लिए कषाय न हो इतना तो ख्याल रखते ही थे और आज भी है ऐसा नहीं है नहीं लेकिन आज का काल वो विचित्र काल है बहुत विचित्र काल है तो महाराज साहेबों को संघ के साथ रहना है संघ का कितना प्रश्न आता है कैसा आता है क्या क्या है और संघ संभालना उन्होंने ये त्याग लिया है क्यों कि अपने आत्मा आत्मा का कल्याण के लिए लिया है फिर भी संघ तो है ही ना संघ है वही व्यवहार है वही व्यवहार तो उनका मार्ग व्यवहार यही है कि संघ का संघ संघ को संभालना हम्म? तो कषाय कम हुए ऐसा जीवन हमेरा जावे उसको मुक्ति मार्ग मोक्ष मार्ग बोलते हैं कषाय महीना राग द्वेष क्या बताया राग, राग किसको कहते हैं माया और लोभ को किसको बोलो और माया तो सब लोग जानते हैं हम्म, सब लोग जानते हैं माया क्या चीज़ है और लोभ भी सब लोग जानते हैं हम्म, और द्वेष किसको बोलते हैं क्रोध और मान को क्या तो इराग तो उसका विश्लेषण किया लेकिन राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ और अपने वेदांत में उसमें मद मत्सर ऐसे बोलते हैं मद मत्सर क्योंकि आज समाज में सभी के जीवन में उसका अनुभव होता ही रहता है मद और मत्सर हुँ? हम्म, मद महीना मैं ये वैसू वैसा हूँ वैसा वैसा कुल का हूँ वो वो सब मत बोला जाता है हुँ? हम्म? कुल का मत कोई मैं ऐसा हूँ अभी ऐसा कोई किसी का जो व्यवहार में स्थिति है वो सबका मत और मत्सर वो तो बहुत आगे की है बहुत कठिन है किसका अच्छा नहीं देख सके उसके लिए ऐसा रहा ही करे अंदर अंदर कुछ बताया नहीं सकता है लेकिन अंदर रहता है ये काल का प्रमुख ये दुर्गुण है दो सब और उससे शरीर में जाता ही रहता है तो खास करके मोक्ष और मुक्ति वो कष्ट साध्य नहीं है लेकिन सहज साध्य है क्या बताया सहज महीना बिना प्रयत्न अप्रयत्न दशा जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं आत्मा जो पुरुष है वो पुरुष स्वभाव जिन्होंने पाया है वो पुरुष स्वभाव से पुरुषार्थ में रहना और पुरुषार्थ में कैसा रहा जाता है खुद के व्यवहार में तो ये सब रीत ज्ञानी पुरुष बना देते हैं ज्ञानी महीना वो केवल ज्ञान के नज़दीक के हैं वो लेकिन ये काल में उन्हें देह के साथ वो केवल ज्ञान नहीं बढ़ता शरीर में क्योंकि काल है तो केवल ज्ञान के नज़दीक के ज्ञानी इसीलिए नौकार मंत्र में पांच नमस्कार बताए हैं उसमें ज्ञानी की पद नहीं है लेकिन आचार्य को ज्ञानी की संज्ञा है आचार्य को आचार्य जी को ऐसा लेकिन वो व्यवहार से है भगवान के भाषा के ज्ञानी कौन है तो आचार्य से ऊपर है और अरिहंस से नज़दीक है दोनों के बीच में ऐसा पद है ही नहीं इसीलिए वो अपवाद बताया है क्या बताया है हाँ अपवाद होता है तो ऐसा पद वो ना कहीं कहीं हजारों में कभी होता है तो अभी ये कलयुग में वो दादा भगवान का प्रकाश हुआ एक सामान्य व्यवहार में व्यवहार दृष्टि से गृहस्थ वेश में जो हुआ वो उनका और दादा भगवान तो धर्म में दादा शब्द बहुत पवित्र है सभी पवित्र पुरुष के लिए दादा शब्द बोला जाता है और व्यवहार में अलग ढंग से बोला जाता है व्यवहार तो व्यवहार है क्या करेगा <laughs> तो दादा भगवान के लिए दादा शब्द बहुत पवित्र है समझे ना ऋषभदेव दादा से चला आया हुआ है ऋषभदेव दादा से आदिनाथ से पधारो क्या शुभ नाम आपका दीपक दीपक जी हाँ दीपक जी ने आप यहाँ ही हम्म? अच्छा સમજી ગયા છે તો હોય છે તો સેવામાં તો મોક્ષ જી बहुत हाँ, पुण्यशाली हाँ। पुण्यशाली है हाँ। बहुत सा बहुत सा हाँ बड़ा अच्छा बड़ा ये आप तो पुत्र से मलना हाँ आपको लगा है तो उसमें से जैन आप भी जैन है नहीं जैन दो है बाकी के तीन है चार है वो जैनेतर है वहाँ बैठा ये सब पढ़े लिखे है फर्स्ट क्लास इंजीनियर कोई है वो तो उन्होंने गोल्ड मेडल तो मेडल तो बाजू ही रख दिया गोल्ड मेडल उसको अभी हमें तो ज्ञान का गोल्ड मेडल चाहिए ऐसा बोल रहा है इसीलिए सब हमारे खुद के लिए जीवन रहा ही नहीं हमें सबके लिए हमें जीना उसको अर्पण कर दिया तो सारा भारत में घूमते रहते हैं सभी समाज के सभी स्तरों में बात करते रहते हैं जैन में सब जैनों हो हिंदू हो वैष्णव हो शिव जी हो दर को इस्लाम वाला हो क्रिश्चियन हो कोई भी आवे उसके तो आत्मा की बात तो सबको कर सकते हैं हम्म, वो तो सभी में एक है लेकिन लोग अलग अलग भाषाएं अलग है अलग करी क्यों कि अलग हर एक की मान्यता अलग है मान्यता और मान्यता के स्तर पर भगवान समझाया गया है इसीलिए व्यवहार से मानने में वो अलग अलग पड़ गए इंग्लिश वालों के लिए गॉड इस्लाम के लिए खुदा अल्लाह हम्म? और ये सब हिंदू समाज में ईश्वर हिंदू समाज में ईश्वर और जैनों में तो वो जो वितराग है वितराग पुरुष आत्मस्वरूप वही से बोलते हैं समझे तो जैसी जैसी जिसकी मान्यता और मान्यता का विकास जो भूमिका पर ऐसी ऐसी है बाकी भगवान तो एक स्वरूप है सभी में है और प्रकाश सबका एक ही है लेकिन ये पुद्गल है प्रकृति है शरीर है उसके कारण वो प्रकाश का सारा दिया का प्रकाश जिसको मिलता है वो प्रकृति का गुण से सभी को अनुभव में आता है तामसी हो और उसको ज्ञान लेना हो ज्ञान समझना हो फिर भी वो तामसी प्रकृति है ना उसकी जड़बूल मूल तो उस प्रकार से लेगा लेकिन वो प्रकृति जो कारण है उसका गुण है उसके पर से वो सब जाएगा लेकिन स्वाद जरूर आएगा उसको ज्ञान में स्वाद जरूर आएगा लेकिन इसी है एक काल के कारण कलयुग हम्म, राशि है तो इस प्रकार से आएगा और सात्विक जो है उसको इस प्रकार से आएगा लेकिन ज्ञान एक ही होगा सभी को सभी को अगर मिले तो एक हर दूसरे को समझ लेंगे वो लोग समझे कि व्यवहार में सब अलग अलग हमें लिखता है एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं इसके कारण समझे इसी चलती है बड़ा अच्छा तो मोक्ष मार्ग कष्ट साध्य वो शरीर के माध्यम से शरीर जैसा है उसकी अपेक्षा से कहा गया है वो कष्ट साध्य अर्थात संयम तप और त्याग का मार्ग हुँ? हम्म? जो आप भी दिलवाड़े में रह के करके महाराज साहब के पास आते समझते रहते हैं ठीक है ना कष्ट तो क्या तप तप करते हैं उपवास वगैरह मांस खमण करते हैं क्या नहीं ये बच्चे हाँ? ध्यान बड़ा ध्यान तो बड़ा बहुत बड़ा शब्द है ध्यान लेकिन ये ध्यान समझना चाहिए ध्यान कब बोला जाता है कि जिसको ध्येय प्राप्त है और ध्येय प्राप्त है और वो ध्येय प्राप्त है और ध्येय के कारण वो ध्यान में बैठता है तो बैठता है तब वो ध्याता हो जाता है ध्येय प्राप्त वाला ध्याता हो जाता है ध्याता किसका कुछ ध्येय पाया कि मैं हूँ ये शरीर है और मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का उनको सभानता अंदर जितनी जितनी रहती है वो ध्यान रहता है और ध्याता देश मुजब हुआ उसको ध्यान बोलते हैं वैसे तो मनुष्य में शरीर में ध्यान तो कुदरतीपन से हुआ ही करता है कोई चाहे ना चाहे ध्यान क्रिया नहीं है कि उसमें बैठे लेकिन शरीर को सही रखने के लिए करयुग में वो मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ध्यान बोलते हैं साधना बोलते हैं ये सब करना पड़ता है व्यवहार से हुँ? हम्म, शरीर को ये ब्रह्मा कुमारी का है ना वो लोगों को समाज में जो लोग आते हैं तो उसको एक दे देते हैं मकसद ये है तो देखो ना कैसे जाते हैं तो जाते हरते फरते तो उसको दे दिया देखो और ये ध्यान मत देखो तुम अपना ये मंत्र दिया है तो इसमें ही रख जाओ हम देखते हैं सारा आबू माउंट माउंट आबू सभी सभी प्रकार अलग अलग होता है समझे तो मोक्ष मुक्ति और मुक्ति का मार्ग सहज प्राप्य है कष्ट साध्य नहीं है कृपा साध्य है क्या बताया कृपा साध्य है और ये त्रिकाल का सिद्धांत है चौथे आले हो या पांचवा आला हो सतयुग हो या कलयुग हो सभी प्रकार सभी समय में ये हमेशा कृपा साध्य रहा हमेशा और इसीलिए हमारी ये गुरु शिष्य ये परंपरा रहती है लेकिन कृपा साध्य कृपा किसको जिस जो प्रकार है वो प्रकार से हर एक को बनती रहती है लेकिन जो समझ दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं उसकी कृपा उनसे मिलती है व्यवहार में समाज में जिसको ज़्यादा समझ है उससे उसको ऊँची समझ वाले को मिल जाती है ऐसी लेकिन कृपा बहुत पवित्र शब्द है बहुत पवित्र शब्द है कृपा कृपा डिविनिटी को दिव्यता को जीवन की दिव्यता का प्रकार है उसको लागू होती है कृपा हम्म? और इसीलिए समाज में हम व्यवहार संयम मार्ग को हम इतना आदर करते सत्कार करते हैं उनके चरणों में बैठते हैं उनके पास समझते हैं हम्म? इतनी इतनी होती है तो कृपा ये किसी से देने की क्रिया नहीं है लेकिन अंदर से जैसा जैसा जीवन जीता जाता हो बुद्ध का जीवन का दिव्यता जितनी आती है जीवन में ऐसी कृपा का प्रभाव व्यवहार से बनता रहता है और भगवान की भाषा में जितनी जितनी उसकी आत्मस्वरूप अंदर जीवन गई शरीर के साथ और उसका परमात्मा प्रकाश उसको खुला होता गया वहाँ वो दिव्य कृपा बोलते हैं दिव्य उसको उनके लिए दृष्टि होनी क्या होना दृष्टि दिव्य दृष्टि उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि और व्यवहार दृष्टि दो दृष्टि से सारा जीवन है दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त है जो हमेशा कर्म से अबंध स्थिति में रहते हैं ज्ञानी पुरुष अबंध स्थिति में कई कई कितने शरीर की शरीर क्रियाओं है फिर भी वो क्रिया उसको प्रतिबद्धता नहीं कर सकती उनकी ऐसी अंदर की जीवन की दशा है हुँ? हम्म? तो द्रव्य से काल से कार से और भाव से चारों प्रकार से और ये बहु में हम्म? बहु प्राप्त बहु को ही बहु बताया लेकिन हम द्रव्य क्षेत्र कार भाव भव बोल देते हैं लेकिन खास से चार मुख्य कारण है शरीर है तो ये चार कारण है इसीलिए द्रव्य से क्षेत्र से कार से और भाव से जो अप्रतिबद्धता से सारा अंदर से उनका दशा एक कारण के मानव देह का जीवन चलता रहता है ऐसे ज्ञानी पुरुष उनसे ही ये कृपा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद कृपा से होती है और पीछे कृपा प्राप्त हुई पीछे अपना जीवन में ये विकास होता जाता है हुँ? हम्म, विकास हो जाए बड़ा अच्छा आपको मिल के आनंद हुआ हुँ? हम्म, तो कृपा साध्य मार्ग है लेकिन ये काल में ये अपेक्षा से है बात अपेक्षा हम्म, और माहिर भगवान के समय भी गौतम स्वामी बहुत चाहते थे हम इनके इतने नजीक क्या मरीची का भव और क्या महावीर भगवान का भव वहाँ से कपिल से होके कपिल मुनि को होके यहाँ गौतम स्वामी हुए ये सिरे सार पूरा कार में आखिरकार में दोनों साथ हुए कहीं कहीं कर्मों के वश कोई कहाँ जाके जाके आए पैसे मिले आए गए मिलते मिलते चल एक दूसरे का ऐसा था फिर भी उन्हें थोड़ा थोड़ा रह जाता था कि भगवान इतना मेरे पर भगवान की प्रीति ये है तो उनको लगे कि मेरा मोक्ष कब हो मोक्ष को कब होगा मेरे आशीर्वाद से सभी का होता है मोक्ष तो भगवान ने मार्ग बताए रास्ते बताए से रास्ते किया उन्होंने और उससे दूसरे को लाभ हो गया लेकिन तो मोक्ष की समझ सब जैन समाज में क्या है कि देवों की धुंध भी होती है देवों का आवाज मनुष्य नहीं सुन पाएंगे और ऐसे भी होती है जिसकी ऐसी दशा है उसको मालूम पड़ जाता है दशा है आराध्या है वगैरह ऐसे होते ऐसा क्यों नहीं होता बोलते हाँ उसमें इतनी रह गई इतनी सी रह गई इसीलिए आखिर आखिर की देशना भगवान की तो भगवान तो कुछ करते नहीं भगवान जानते देखते रहते और कुछ नहीं करते हुँ? जानना तो उसका मूल स्वभाव है देह है फिर भी ज्ञान प्रकाश से जो आत्मा केवल स्वरूप से सभी जान लेती है उसको जानने की क्रिया करनी नहीं पड़ती जाना जाता है उसी को केवल ज्ञान बोलते हैं समझे न और इसीलिए जो देशना में बैठते हैं तो दर्शन प्रकार से होता है वो ज्ञान तक ज्ञान का पूरा प्रकाश है केवल लेकिन केवल दर्शन प्रकाश इसीलिए तो सबको लाभ होता है लाभ होता है दर्शन व्यवहार में सभी को लाभ के लिए है ज्ञान खुद को खुद के लिए केवल ज्ञान की दशा से अंतर से हो रहा करता है हुँ? हम्म? सभी प्रकार से तो आखिर की दक्षिणा में भगवान कुछ करने वाले लेकिन निमित्त जिस बताया जाता है शास्त्र में निमित्त और उपादान दो शब्द मुख्य है जैन दर्शन में और हिंदू विद अपने वेदांत वगैरह में अलग अलग ढंग से हो तो निमित्त निमित्त शब्द बहुत बड़ा है तो भगवान तो ऐसा कि हम निमित्त बने ऐसा कुछ होता ही नहीं उसको लेकिन वो जानते हैं कि गौतम स्वामी को एक थोड़ी सी थोड़ी सी रह जाती है अंदर ऐसी कि भगवान बोलते थे इसी भव में हम सिद्ध गति में साथ में होंगे तो अभी क्यों नहीं तो पीछे होता होना है ना कि अज्ञान हुआ तो हो ही गई यहाँ से सिद्ध गति हो ही गई फक्त शरीर कर रहा खाली वो चरम शरीर है ना आखिर का शरीर है तो उसका आयु कम के प्रमाण से रहा वो तो क्या है एक ऐसी बात तो भगवान ने गोयमा गौतम बोलते थे गौतम ये बाजू के गांव में ये वही वाले ब्राह्मण उसको बोध दे के आओ ऐसा कुछ बताया शास्त्र में वैसा प्रमाण है तो वैसा तो वो तो बच्चे सरखे थे इतनी विद्याएं थी इतनी सिद्धियां थी उनको व्यवहार के लिए व्यवहार की बोलते हैं हाँ? व्यवहार की सिद्धि शब्द व्यवहार में नहीं बोला जाता लेकिन व्यवहार में होता ही वो शब्द सिद्धि निश्चय में आत्मा मार्ग में आत्मा के पक्ष में ही बोला जाता है वो अलग बात है और व्यवहार और निश्चय दोनों साथ साथ में रहते हैं और मोक्ष मार्ग व्यवहार के साथ वाला निश्चय से एक साथ दो पटरी है रेलवे की ऐसा साथ में ही चलता है हमेशा हमेशा समझे न तो गए और यहाँ देशना हो गई पूरी सब सबको सपना हो अपने अपनी गुफा में निंद्रा में होना समय हो गया उसको गुफाएं बोलते हैं ना शरीर को गुफा बोलते हैं तो गुफा में एक दूसरे से प्रवेश कोई कोई नहीं कर पाता पर कर पाता है तो बोलते चलो भगवान चलो अभी आखिरी समय आ गया उनका आखिर का समय हुँ? हम्म? तो आखिर का समय आया और परूर में वो सारा खुला हो गया हुँ? हम्म? और शरीर बाजू रह गया तो सारा बहुत ऐसी चहल पहल बहुत हो गई पुष्कर हो गई राजाओं रॉयल जनता सभी को और यहाँ बाजू में गांव में है तो उनको मालूम पड़ा कि क्या है कौन कहाँ जा रहे हो सब तो अरे प्रभु का निर्वाण हो गया निर्वाण प्रभु का जो मैं इतना निकट निकट रहा और मुझे ही दूर रखा ये जानते हैं केवल ज्ञान ही है तो मुझे सबसे निकट में केवल ज्ञान तो बहुत विलाप किया उन्होंने उसका विलाप भी शास्त्र में बहुत लिखा है बहुत कैसे इस प्रकार और जैनों को तो पढ़ने से बहुत आनंद आता है पीछे खुद अपने जीवन में विलाप करता ही रहता है अरे भैया इतना सब मिला है क्यों विलाप करता है हा? लेकिन इतनी थोड़ी बाकी ही थी उसकी थी केवल ज्ञान विज्ञान प्रकट होने में अंतराय थी उसका कारण है वो आई नहीं तो केवल ज्ञान खुला नहीं होता और पीछे पीछे आते हैं तो पीछे रास्ता अरे भगवान तो वितराग है वितराग को क्या नजीक हो दूर हो कोई हो वितरक को क्या है हुँ? हम्म? तो तो उल्टी जो चाली धारा उल्टी धारा चाली वो सुलटी हो गई सुलटी होते ही चलते हैं तो उसका केवल ज्ञान कहा गया तो यहाँ परुड़ होती है ऐसे केवल ज्ञान खुला होते भगवान को रात्रि में मध्य रात्रि ऐसा केलो हो जाता है कौन धीरू भैया है यहाँ पधारो भाई साहब सुन अरे हाँ हाँ अरे ओ हमारे <laughs> महानुभव महानुभव सुधी भाई को ऐसा नहीं गद्दी दो उनको गद्दी वाले नहीं हो <laughs> बहुत प्रखर जैन है वहाँ <laughs> वाह वाह वाह अरे वाह हम तो कल्याण भाग्यशाली कल्याण हो गया मेरा तो हाँ। आपका दर्शन करने मिले कुर्सी पर बैठ सुनील जी सुनील जी आप मेहरबानी कर अरे धीरू भाई आ जाओ यहाँ जगह है यहाँ जाओ भाई एक थोड़ा सा समय लेंगे समय लेंगे थोड़ा चलेगा ना आत्मा और आत्मा की बात सुनने मिले पीछे तो शरीर को तो भूख भूख लग रही है वो ठीक बात है लेकिन ये तो सबसे बड़ा आहार है अपना हाँ निराहारी का आहार है क्या और आहारी का तो जब आएगा पापअप होने वाला है बैठो यहाँ साहब वो वो हलाना नहीं हाँ ये जगह है देखो नहीं नहीं એને બેસવા દો વાતો કરે અમારી સાથે तो गौतम स्वामी को सुलटे हो गए और सुलटा चला उसका चक्कर और जो चला आखिर का केवल ज्ञान भगवान को आगे तब वो साथ में ही रहे कि नहीं सिद्ध गति में यही भव में ये बना लेकिन आज का कलयुग में अब ज्ञान प्राप्त हो फिर भी हमें आज्ञा है हमारे पास वो प्राप्त ज्ञान से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देह के साथ जीना वो आज्ञा धर्म है फिर भी हमारे जो व्यवहार है वो व्यवहार हमें बाधक नहीं रहता लेकिन हमें व्यवहार को जितना बात किया है इतना बाद आज ये शरीर में आया हुआ है सब सब इकजुठा करके वो अपने आप आता है कई प्रकार के है शरीर के आत्मा के नहीं है वो ज्ञान आवरण कर्म है वो आत्मा का कर्म नहीं है वो तो व्यवहार से है दर्शन आवरण व्यवहार से है विघ्न व्यवहार से है मोह व्यवहार से है कौन सा मोह बोलते हैं चारित्र मोह चारित्र मोह चारित्र मोह क्या ये शरीर के अंदर ये काल में ये कर्मों के अनुसार ये शरीर में व्याप्त हमने संयम पर्याय लिया है तो वो भी चारित्र है और व्यवहार में संसार में जो है उसका उनका चारित्र है वो मोह चारित्र चारित्र मोहनीय मुल्क को बोलते हैं ये सभी व्यवहार के भाग में गया निश्चय के भाग में आत्मा एक अकेला ही है अनंत गुणों है अनंत गुणों लेकिन प्रमुख जो दो गुण है जो उनका प्रकाश स्वरूप आत्मा खुद है ही नहीं ये तत्व है द्रव्य है द्रव्य कैसा तो एक प्रकाश प्रकाश द्रव्य जरूर है लेकिन प्रकाश द्रव्य समझ में जाए तो हम आज के युग में आज का विज्ञान इतना विकास पाया हुआ है उस ढंग से हम समझ नहीं जाते हैं द्रव्य तत्व की भाषा में द्रव्य ऐसा नहीं समझा जाता तत्व की भाषा में उसको कायम का परपैचुअल त्रिकाल होता है उसको ही द्रव्य बोला जाता है द्रव्य तो ऐसे तो प्रमुख छह द्रव्य है ही छह द्रव्य और सर्व में प्रमुख है तो आत्मा क्या और उसके साथ वाला जुटा होगा जो है तो के पुदगल क्या हाँ पुद्गल ये दूसरा है और पुद्गल से जुटा हुआ क्या है तो के काल है कि नहीं पुद्गल से जुटा हुआ ये सारा पुद्गल कालबद्ध है कौन सा काल जो काल हमसे बद्ध हो गया था और वितरागो तो मुक्त है काल से हम्म? ज्ञानी पुरुष काल से मुक्त है उनके हथेली में काल है तत्व है फिर भी वो काल को पकड़ते नहीं हम्म? काल को नहीं पकड़ते उनकी जानकारी में सब कुछ दिखाई देता है सब कुछ कोई कैसा भी पूछे तो कि भाई है साहब मेरा क्या होने वाला है तो भाई मैं ये है रे तू तो ज्योतिषी लोग बहुत है उसके पास जाए मैं ज्योतिष नहीं हूं त्रिका ज्ञान किसको बोलते हैं कि आज क्या नाम बताया दीपक दीपक मैं दीपक हूं तो दीपक ऐसा नहीं बोलेगा आराधना में कि मैं था ऐसा नहीं बोलेगा हुँ? हम्म? लेकिन हुआ कैसा उसमें सबको उलझन होती है हो गया हो गया वो तो सब लोग समझते हैं ज्योतिषी भी समझते हैं आगे का सब उलझन है क्यों कि मैं दीपक को नहीं समझता और इसी ढंग से रहूं उसको वर्तमान बोलते हैं वर्तमान बहु है तो वर्तमान से जीना होगा हम्म? हाथ में आया है साधन जीने का एक अद्भुत प्रयोग हाथ में आया तो क्यों नहीं जीवे हम समझे ना ये व्यवहार है तो वर्तमान में बुधकार और भविष्य का समाविष्ट है उसको त्रिका ज्ञान बोलते हैं त्रिका ज्ञान व्यवहार में समझाएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है समझे ना है शब्द हकीकत है लेकिन व्यवहार में संसार सब संसार में सबको आज आचार्य जी को संयम पर्याय में भी ब्राह्मण लोगों को पूछना पड़ता है हाँ सब कुछ होता है वो तो होना ही है और ये ब्राह्मण लोग के लिए वो सब जो विद्या सब तो छह तत्व है आत्मा पुद्गल काल और तीन और सहार का ही तत्व है हमारे लाल क्यों कि गति तत्व होता नहीं तो ये गति वाला विश्व होता ही नहीं और गति वाला विश्व न होता तो कैसा विश्व होता बोलो एक झाड़ है दिखता है स्थिर बड़ा कुछ पर आप कौन देख सकता है कि झाड़ की गति है कौन देख सकता है ज्ञानी को दिखाई देता है बिल्कुल समझे और गति और स्थिति दोनों साथ साथ में सारा ब्रह्मांड यूनिवर्स में पड़ा हुआ है एक ही तत्व देखो अगर गति के साथ साथ स्थिति न होती तो गति हमेशा बनती रोकी तो जगत होगा तो आज के वैज्ञानिक बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा आगे आगे चलता जाता है एक्सपांड होता है एक्सपांड होता जाता है वो वैज्ञानिक ही है तो बुद्धि की प्रकाश ऐसे काम कर सकती है लेकिन आज किया ना उन्होंने देखो पुद्गल की सूक्ष्मता में कितने गए वो लोग हुँ? हम्म? प्रकाश शक्ति सभी प्रकार से गए गए ना हम्म। तो गति और स्थिति और सबसे बड़ा तत्व है कि हमें ये जगह रोक रोक सकते हैं वो बड़ा ऐसा तत्व है वो बहुत बड़ा उदारता वाला है उसको आकाश तत्व बोलते हैं क्या और ये विद्या अपना वेदांत में और उपनिषद सभी में है ये उसके प्रकार से है लेकिन वो पंच महाभूत और इसमें थोड़ा समझ में फिर है प्रकार तो एक ही है मुक्ति मार्ग का लेकिन आकाश ये छह तत्व हम्म? तो आत्मा और पुद्गल की जो दोनों में कुश्ती है क्या वो आत्मा तो कुश्ती में आता ही नहीं कभी तो कुश्ती के है तो पुद्गल की ये सारा जो दिखावा में आता है हमें अनुभव में आता है पांच इंद्रियों से सुनने में देखने में सभी प्रकार से वो सब पुद्गल की कुश्ती है अर्थात पुद्गल की बाजी है पुद्गल की बाजी पुद्गल की बाजी पुद्गल पुद्गल से करता रहता है और सब अरस परसता से करता है सारा विश्व में पुद्गल बाजी जिसकी ज्ञान दृष्टि में ज्ञान प्रकाश में इतनी समझ में आ गई है तो उसको तो सारा और उसकी दशा जी शरीर जीता है वो शरीर जीता है वो उस ढंग से वो नहीं जीते वो आत्मस्वरूप से होते हैं हमेशा और आत्मा आत्मा स्वरूप को जी जीता है ऐसा नहीं बोला जाता लेकिन दूसरी बीच में की अवस्था है वो अंतर आत्मा अवस्था है क्या ज्ञानी से ज्ञान स्वरूप ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात वो अंतर आत्मा दशा है अंतर आत्मा दशा वो एक दशा है ये आत्मा की अवस्था है कौन सा आत्मा मूर्ख शुद्ध चेतन मूर्ख शुद्ध चेतन उसकी अवस्था है तो एक ऐसी स्थायी अवस्था में प्राप्त हुई वही अवस्था आत्मा का अनेक गुणों प्रकार से प्रमुख ज्ञाता दृष्टा देखना जानना उससे बनती रहती है जिसके कारण हमेरे सारे ये ज्ञान के अंतराय व्यवहार के दर्शन के अंतराय व्यवहार के विघ्नों सभी व्यवहार के और मोहनी शब्दी व्यवहार वाली वो सब खाली होती जाती है समझे न और जो वेदनीय कर्म है तो वो शाता और शाता शरीर को होता है लेकिन वो अच्छी ढंग से जानते देखते रहते हैं आज हमें इतनी एज मेरी बाणी निकलती रहती है अंदर शरीर लेकिन थोड़े आए ऐसे करे तो आहिस्ते ऐसे रिकॉर्ड जरा पावरफुल होती जाती है ये हमारे अंतर की अनुभव वाणी है हुँ? हम्म? हम नहीं बोल पाते एक शब्द नहीं निकल सकता हमसे एक शब्द नहीं ये बाजा बज रहा है हम अच्छी तरह से वही बाजा खुद को सुन रहा है और उनको हम देख रहे हैं आप सुनते हैं तो आपके देखते ही रहते सतत हम्म, तो क्रिया तो एक ही रही सबकी हम आपके साथ थे हम्म, ये एक मास्टर एक काल के महापुरुष युग दृष्टा दादा भगवान दादा भगवान जो काल से पर है क्या और मटीरियल द्रव्य से पर है मोशन से पर है स्थिति से पर है और आकाश उसको आकार वो तो निराकार है ऐसी उनकी निराकार सती है और ये आकाश वही निराकार है उसमें वो रहे हुए हैं शरीर में वो भी एक उसने एक प्राप्त की एकोडोमेट की उसकी सतह है आत्मा की लेकिन वो स्वरूप से है स्वरूप निराकार होता है निराकार आकाश है इसीलिए सिद्ध भगवंतों में जो सिद्ध भगवंतो है वो निराकार स्वरूप से है केवल आत्मा के चैतन्य गण स्वरूप से चैतन्य गण इतनी कितनी भी स्लाइस हो हर एक स्लाइस अनंत ज्ञान अनंत प्रकृत बदी सभी है चैतन्य गण और जगह नहीं रोकते फिर भी आकाश तत्व तो है आकाश तत्व तो ये लोक आकाश है और अलोक आकाश दोनों है एक ही एक ही आकाश बोलो हम्म। तो यही आकाश में हम ये मध्य लोक में हमारी ये पृथ्वी है तो पृथ्वी तो एक मॉलिक्यूल ऐसा टपका जैसी है ऐसी पृथ्वियाँ हैं और बहुत बड़ा है बहुत बड़ा आकार है हुँ? हम्म। तो ये आकाश तत्व और चैतन्य दोनों का निराकार स्वरूप बहुत समझने योग्य है सबसे आखिर में वो सब सिद्ध में होता है और केवल ज्ञान पश्चात निर्माण होता है निर्माण सभी समझे तो ऐसी बात हुई तो सुनील सुनील भाई साहब कुछ आपकी कृपा करे धीरू भाई गाठानी साहब आप चलाओ थोड़ी तो बाजा बजे नहीं तो एक पद बोले अभी तो मेरे पास तो बाद में पाँच मिनट कम है संपति साहब पाँच दस मिनट ले रहे ज़्यादा अरे क्या अच्छा क्या लेके आए श्रीमद जी को लेकर आए हाँ? मुक्ति इसके अंदर योग विशिष्ट है अष्टवक्र गीता है गीता के ऊपर है और आपका दुर्गा शक्ति को अध्यात्म में घटाया है आपको बड़ा पुण्यशाली है कृष्णानंद के मुक्त प्रवाह साधु जी साहब का आपको प्रसंग है और उनसे जो लाभ होता है बड़ा अच्छा जरूर जरूर उनके ते गए उनके नंबर तिरसठ नंबरनी ગાડી બરોબર चलो आइए हम्म। अच्छा तो आप बोलते हैं समय हो गया आपको लगता है घड़ी घड़ी चलती है <laughs> घड़ी बनाने वाले को तो घड़ी चल रही होंगी ना घड़ी कोई उनका बनाने वाला <laughs> तो उसको चलाएगा ना घड़ी तो लेकिन हमें बड़ोदे में अपना सयाजी बाग करके है बड़ा तो उसमें एक घड़ी बहुत बड़ी बनाई है हम्म, तो उसमें लिखा है ऐसी कोई घड़ी कोई नहीं बना पाया जो हमें भूतकाल में ले जावे ये ऐसी तो है लेकिन ऐसी नहीं है कोई घड़ी लेकिन आत्मा के ज्ञान प्रकाश में ये घड़ी समय काल आज का व्यवहार काल उसकी जो गणित है अरेथमेटिक है उससे परे वो प्रकाश ऐसा है वहाँ सूरा पूरा गणित पूरा एरथमेटिक संपूर्ण हो जाता है और उसकी सारी अवस्थाएँ बहुत सूक्ष्म है वो तो कोई नहीं सम पा समझ पाएगा आज तो हम घड़ी क्षण ऐसा बोलते हैं सेकंड मिनट आवर इतना बोल लेते हैं और नहीं हुँ? हम्म? ज्ञान प्रकाश में ऐसा दिखाई पड़ता है बारीक से बारीक मनुष्य मन से वाचा से काया से कहीं कहीं अवस्था से उसमें सबसे बड़ा छोटा तो मन है कि नहीं कि शरीर छोटा है उसका ताग कोई नहीं पा सकता नहीं हाँ और वाणी तो बहुत कम है ना मेरा सब हाँ व्यक्त बोली जाती वाणी ज्यादा होगी लेकिन अंदर तो है नहीं वाणी कि अंदर हैरान करती है किसी को हम्म पिरामिड होता है ना तो ऊपर की एक आठवां भाग इतनी बाहर की वाणी है बाकी का नीचे जो छोटा भाग है ये सब अंदर की वाणी है ये छोटा भाग है कि ऊपर का <laughs> अच्छा, ये वाणी अंदर ही है सब हम्म, अंतरवाचा बोलते हैं उनसे मुक्त हो तब मुक्ति अनुभव कि वाणी क्या है शब्द क्या है शब्द ज्ञान क्या है और उसकी सारी रहस्य आपको मालूम हो जाएगी अनुभव वाणी हमारे महात्माओं है दादा भगवान से इतने ज्ञान पाए सभी को यही चलता है अंदर का और बाहर का व्यवसाय बाहर का व्यवहार चलता है सब कुछ हुँ? हम्म? तो कांति भैया आपकी बात तो सही है महाराज साहब तो उनकी हमें संपत्ति है ना मेरे कांति भाई साहब आप तो जानते हैं हाँ? હા તો શું પ્રકાશજી જરૂર જરૂર બોલો જય સચિદાનંદ મહાત્માઓ આપણે અહીંયા આગળ જમવાની વ્યવસ્થા બધા આપણા મહાત્માઓ માટે છે આજે કાલે ને પરમ દિવસે એટલે સવારે જેવો સત્સંગ પૂરો થાય એટલે અહીંયા ભોજનશાળામાં સ્વામી વાત્સલ્યથી જમવાનું છે એટલે કૂપન કોઈએ વેચાતી લેવાની નથી આપણા સંઘે આપણા મહાત્માઓએ આયોજન કરેલું છે જમવા માટેનું તો હવે બધા પ્રસાદ લેવા અહીંયા ભોજનશાળામાં મહાત્માઓ જજો ભલે અહીંયા ન ઉતર્યા હોય બારે ઉતર્યા હોય તો પણ ભોજન બધા અહીંયા લેજો ભોજનની વ્યવસ્થા બધા માટે છે સવારે નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ છે અહીંયા અહીંયા ઉતર્યા હોય બારે ઉતર્યા હોય તો બી નાસ્તો કરવો હોય તો અહીંયા સવારે નાસ્તો કરી શકાશે આ એક ખાસ મહાત્માઓને જાણ બીજું ત્રણ સવારે દસથી બાર અને ત્રણથી પાંચ આપતો પુત્ર અને દાદાજીનો સત્સંગ છે હવે જે બહારથી આવ્યા હોય અહીંયા રૂમ ના હોય આબુ રોડથી કે ગમે ત્યાંથી અને અહીંયા જમીને આરામ પાછો કરવો હોય ત્રણ વાગે સત્સંગ છે તો આ હોલ ખુલ્લો જ રહેશે તો આ હોલમાં જ કલાક બે કલાક આરામ કરવો હોય તો અહીંયા આરામ કરી શકાશે અથવા કોઈ મહાત્માઓની રૂમોમાં બી જઈ શકાશે એટલે પાછો ત્રણ વાગે સત્સંગ એટન થઈ શકે અને અને જો ચોવીયારમાં એવું હોય છે સાંજે જો દસ જણાથી વધારે હોય તો આ લોકો રસોઈ બનાવે છે એટલે જો મને હમણાં મળો પછી જો દસેક જણા થતા હશે તો મહારાજને કહેશું તો એ દસેક જણાથી ઉપર હશે તો અહીંયા ચોવિયારની વ્યવસ્થા બી થઈ શકશે નહીતર પછી બધાએ સાંજનું જમવાનું પોતપોતાની રીતે મુક્ત વિહાર કરી અને જેમ અનુકૂળતા આવે એ રીતે રાખ્યું છે આબુમાં આવ્યા છે માઉન્ટ આબુ એટલે બધાને પાછું ફરવાનું બધા ફરવાનું એ રીતે જ ટાઈમ જ એવી રીતે સેટ કરેલો છે આજકા કા પૂતગલ કા સ્વભાવ હે આનંદ આનંદ કરે થોડા અને બીજી એક ખાસ નમ્ર વિનંતી છે મહાત્માઓને બા જાહેરાત કરી દઉં છું કે દાદાજીના ઘરે કોઈ પણ મહાત્માઓ મહેરબાની કરીને ડિસ્ટર્બ ના કરશો અહીંયા ફરવાનું જે છે કોઈ જે નહીં હા એટલે ખાસ વિનંતી છે દાદાજીના ઉતારા ઉપર કોઈ પણ મહાત્માઓ ડિસ્ટર્બ ના કરે એવી ખાસ ના આપ સૌને અમારી વિનંતી અમે તો તમારી સાથે છીએ આ તો મારું જીવન છે અને એ જીવન આખું ફરજવાળું બની ગયું છે કે મારે આ શરીર જોડે રહેવાનું એવું નથી પરંતુ આ શરીર સાથે હું બધામાં રહું કોઈ મને રહેવા દે ના રહેવા દે એ વાત જુદી રહી પરંતુ અમારા सामर्थ्यवान दादा भगवान से सभी को कृपा प्राप्त है लेकिन आज जो अनुभव है हमेरा वो अनुभव से कोई चाहे ना चाहे हम सबके अंदर चले जाते हैं बिल्कुल सचिदानंद हम यहाँ से जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे हाँ तो है तो आप सबको मेरी विनंती है कि अभी आज थोड़ा ये मशीन थोड़ा ढीला है थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सरखा करके आवे हम હમણાં દાદાજી જશે ઘરે આરામ કરી જમી આરામ કરી પછી પાછા પધારશે અને જમવાનું દોઢ વાગ્યા સુધી હોય છે મહાત્માઓ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો જમવાનું રસોડું બપોરે દોઢ વાગે બંધ થઈ જાય છે એટલે પેલા બહેનો જમવા જાય પછી ભાઈઓ જાય પણ દોઢ વાગ્યા પહેલા આપણે રસોડું જમવાનું બપોરનું પતાવવાનું છે પછી લઈએ આપણે અને સવારે નાસ્તાનો સમય આઠ વાગ્યાનો છે એટલે જે કોઈ પણ મહાત્માઓ નાસ્તો કરવાનો હોય તેઓ આઠ વાગે ભોજન શાળામાં શું હા બુફે રાખ્યું છે બુફે જ રાખેલું છે આપણે